धर्म प्रेमी सज्जनों माताओं इस समय आपने स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा वेद भाष्य किया उस मंत्र का व्याख्यान सुना इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वेद के विषय में जो भ्रांतियां थी जो देश के लोगों विद्वानों ने और विदेशियों ने जो वेद का उल्टा भाष्य किया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सबका निराकरण कर दिया भारत के लोगों ने भी वेद का भाष्य किया वो उल्टा हो गया अच्छा नहीं किया विपरीत कर दिया उन विदेशियों ने भारत के लोगों ने जो उल्टा भाषी किया बहुत कुछ सारा ही उल्टा नहीं होता उन्होंने उन लोगों का अनुकरण कर लिया विदेशियों ने तो भूल कैसे हुई जो भाष्य अच्छा नहीं था खराब था उसको आधार मान के विदेशियों ने भाष्य किया एक भूल और विदेशी लोगों की भाषा में संस्कृत गति नहीं थी ये दूसरी भूल इन दो भूलों के कारण विदेशियों ने भी उल्टा कर दिया कौन सी भूल हो गई भारत के लोगों ने वेद का बहुत कुछ उल्टा भाष्य कर दिया उसका अध्ययन उसकी सज्जा पढ़ पढ़ा करके विदेशी लोगों ने अपना भाष्य किया एक तो उल्टे भाषे का अनुवाद आधार मान के उन्होंने भाषा किया एक उनकी संस्कृत भाषा में गति नहीं थी ये दूसरा दोष इसलिए आज की स्थिति में अनेक विदेशी विद्वानों ने भी स्वामी दयानंद सरस्वती का ही भाषा ठीक माना है ये समस्या बड़ी गंभीर थी और उसका समाधान महर्षि दयानंद सरस्वती ने कर दिया अब वेद मंत्र की बात सुनो वेद मंत्र में सीधी सरल भाषा है वे न तत्पश्यन वेने का अर्थ है विद्वान तत्ववेता आत्मा परमात्मा प्रकृति को समझने वाला तत्पश्यन उस ईश्वर को ज्ञान से देखता है क्या समझ में आया विद्वानों के दो विभाग बनाओ व्याकरण दर्शन उपनिषद आदि को पढ़ते लिखते हैं शब्दार्थ संबंध को अच्छी तरह जानते हैं व्याख्या करने में भी समर्थ हैं भाष्य करने में समर्थ है पर विवेक वैराग्य को प्राप्त होकर वो समाधि को प्राप्त नहीं करते उनको भी विद्वान कहते हैं पर वास्तव में व्यवहारिक दृष्टि से उनको ईश्वर को देखने वाले विद्वानों की स्थिति में नहीं माना जाता शब्दार्थ संबंध के विद्वान होते हैं क्रिया रूप में वो विद्वान नहीं होते एक विभाग है नारद जी ने अठारह विद्याएं पढ़ी थी अठारह उपनिध के अनुसार अठारह विद्या पढ़ने पर भी नारद जी ने ये कहा था कि मैं मंत्रवित्त हूं आत्मवित्त नहीं हूं मैं आत्मा परमात्मा को नहीं जानता कारण क्या बतलाया कि मुझे शोक काम क्रोध लोभ वो मुझे पीसते रहते हैं और मैंने सुना है आत्मविन न सोचती ईश्वर को जानने वाला शोक को प्राप्त नहीं होता ये योगी का विशेष लक्षण है और मुझे तो शोक पीसता रहता है इसलिए मैं मंत्रों की व्याख्या कर सकता हूँ मैं ईश्वर को नहीं जानता और सनत कुमार जी से यही सीखने आया हूँ उसने ये कहा तो कहा वे नतपश्यन तत् उस ब्रह्म को विद्वान तत्ववेता जानता है फिर कहा कहा जानता है निहितंग गुहासत इस गुफा में बैठे हुए को जानता है गुफा गुफा नाम बुद्धि का है गुफा नाम प्रकृति का है गुफा नाम जीवात्मा का है गुफा नाम इंद्रियों का है इन वही ईश्वर विद्यमान अंतिम गुफा जीवात्मा क्यों नींद आ रही है क्या हाँ जी नहीं ये शरीर है इसमें नश नाड़ियां हैं ये सूक्ष्म सूक्ष्म तम नाड़ियों में इसमें विद्यमान है गहराई को जहां ढूंढना मुश्किल हो जाए उसको गुफा कहते क्या समझे आप कठिनाई से जो ढूंढा जाता है वो गुफा है नशनाड़ियां गुफाएं हैं उनको वैज्ञानिक भी नहीं पकड़ पाए सारियों को कितनी नशनाड़ियां हैं और कौन सी नशनाड़ी कैसे बनाई गई और कैसे काम करती है फिर आगे बढ़ जाओ इंद्रिया जो है गुफा है जहां तक मेरा ज्ञान काम करता है इंद्रियों की पकड़ इंद्रियों को अनुभव कर लेना यंत्रों से वैज्ञानिकों ने भी ये स्थिति प्राप्त नहीं की है ये ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया ये स्थूल शरीर से इनका संबंध नहीं है सीधा ये गुफाएं कहने लीजिए बुद्धि भी एक गुफा है बुद्धि एक सूक्ष्म है अंतःकरण है जो सृष्टि की आदि में सबसे पहले ईश्वर जी की रचना करते हैं बुद्धि बुद्धि गुफा है बहुत सूक्ष्म तत्व है उसमें ईश्वर विद्यमान है आगे बढ़ो जिस प्रकृति से वो बुद्धि बनी सत्वरजतम अंतिम पड़ा वो गुफाएं उनमें ईश्वर विद्यमान है जीव आत्मा एक तत्व है सत्य पदार्थ है वो गुफा है उसमें ईश्वर विद्यमान है तो अंतिम जीवात्मा के अंदर ये ईश्वर को योगी देखता है बेनस तत्पश्चन आया समझ क्या आया एक तत्व देता व्यक्ति जीवात्मा में विद्यमान उस ब्रह्म को देखता है वे तत्पश्चन निहितंगुहा सत्य सत्य स्वरूप ईश्वर को देखता है अगली बात कही एक उपमा दी गई वो ईश्वर जो है कैसा है यस्मिन विश्वम बहुत ही एक नीलम पूरा विश्व अरबों खरबों जिसकी गणना हम नहीं कर सकते सारा विश्व उसने ऐसा है जैसा कि कलकत्ता के बड़ में आजकल छूट गया हो मुझे पता नहीं एक चिड़िया का घोसरा हो क्या समझे मुख्य पेड़ जो था उसकी शाखा आगे बढ़ती गई खंभे की तरह आगे बढ़ाते गए बढ़ती गई बढ़ती गई कितना ही बलवान व्यक्ति भी ढेला नहीं फेंक सकता इतना बड़का पेड़ कलकत्ता में था अब है या नहीं पड़ी एक दृष्टांत दिया गया ये हमारे वैज्ञानिक बच्चे जो सुनाया करते हैं वर्मा जी वैज्ञानिक कौन है एक आकाश गंगा में जान दस अर्ध सूर्यों को जाना ऐसी ऐसी दस अरब आकाश गंगाओं को जाना इतना बड़ा संसार परमात्मा में इतना छोटा है जैसे चिड़िया का घोंसला हो क्या समझ में आया वैज्ञानिक घबराई क्या ऐसा भी कोई पदार्थ होता होगा सारा संसार जिसमें घोंसले के बराबर हो इतना बड़ा बस चक्कर में बुद्धि आ गई हिसाब किताब समझ में नहीं आता वही तो <laughs> ऐसे ईश्वर को या तो छोड़ दो रहने दो उसको हमें काम का क्यों दौड़ लगाओ पर ऋषियों ने नहीं छोड़ा उसको ऋषियों ने कहा वही जानने योग्य है और चीज जानी जाए नहीं जानी जाए पर परमात्मा जाना जाना चाहिए शरीर की कितनी नाड़ियां हैं ये आवश्यक नहीं है जानना और अब जानना चाहेंगे तो भी साथ न जान पाए मोटी मोटी नाड़ियां जानो इतनी मोटी हड्डी है इतना हृदय है उसको सुरक्षित रखो यहां तक जानना पर्याप्त है अब ईश्वर का जानना अनिवार्य है तो कहा ये सारा विश्व संसार इतना छोटा है ईश्वर के अंदर एक घोंसला जैसे चिड़िया का बना देते हैं इतना छोटा सा है इतना बड़ा ईश्वर है जिसमें विश्व घोंसले के बराबर रहता है तस्मीन इदम संचय विषय थी सर्वम दो बातें बताई उसी परमात्मा में ये संसार प्रलय को प्राप्त हो जाता है इसी में और विषय की अगली सृष्टि में उसे अलग फिर रचना के रूप में घोसले के बराबर आ जाता है ऐसा ईश्वर है स होता है पर होता है विभू प्रजाति वो होता है ताना बाना धागे देखे ना वो मशीनों में बनते हैं करघा है नहीं देखा कभी आप नहीं देखा वो सूत होता है कुछ धागे खड़े होते हैं कुछ धागे होता है और प्रोत है नहीं आया समझ में कपड़ा पहनना जानते हो पढ़ना भी जानते हो ओता है प्रोत है वस्त्र में जैसे खड़े धागे और वस्त्र में बड़े धागे ऐसे ही ईश्वर प्रकृति में जीवात्मा में नशनाड़ियों में सब में विद्यमान रहता है ये ईश्वर का स्वरूप अब विराम अब शांति पाठ होगा मिलकर शांति पाठ करेंगे ओ होना और ध्यान देने की बात है कि इस वेद मंत्र में कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जिन पर हमको ध्यान देना चाहिए यद्यपि कुछ लोग तो संस्कृत भाषा को ही नहीं जानते कुछ लोग संस्कृत भाषा को जानते हैं उनको उसका ठीक अर्थ समझ में नहीं आता और कुछ लोग अर्थ को तो समझते हैं वे आचरण नहीं करते ये उलझने हमारे सामने उपस्थित हैं यदि संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त कर और फिर इन वेद मंत्रों के अर्थ को ठीक समझ लेता है और समझने के पश्चात आचरण करता है तो परिणाम क्या होता है इस मंत्र में बतलाया यस्मिन सर्वाणी भूतानी जिस ईश्वर के जान लेने के पश्चात ईश्वर का साक्षात्कार कर लेने के पश्चात आत्मेवा भूत सभी प्राणी मनुष्य पशु आदि अपने आत्मा के तुल्य दिखाई देते कुछ दौड़ाओगे आप ईश्वर का साक्षात्कार होने पर सभी प्राणी उस योगी को आत्मा के तुल्य दिखाई देते हैं इसका अभिप्राय है कि जैसे वो अपने लिए सुख चाहता है दुख नहीं चाहता उसी प्रकार से मनुष्य पशु पक्षी आदि प्राणियों के लिए चाहता है सर्वभूतेषु ये पश्यति स पंडित ये श्लोक में बात करी क्या कही आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति बस आत्मवत सभी प्राणियों को जो देखता है वो विद्वान है दूसरा व्यक्ति विद्वान नहीं है इस समय दो बातें जानने की वो आत्मवत सभी प्राणियों को क्यों देखता है वो अपने आत्मा के तुल्य सुख देना क्यों जाता है और स्वयं जैसे दुख से छूटने की बात है वैसे ही सभी प्राणियों को दुख से छुड़ाना चाहता है इसमें कारण क्या एक बात तो ये है कि ईश्वर सभी प्राणियों को दुख से छुड़ाना चाहता है और सुख की प्राप्ति कराना चाहता है ईश्वर की आज्ञा से ये स्थिति उसको मिली है अर्थात ईश्वर की आज्ञा पालन करने से उसको ये अवस्था उपलब्ध हुई है जो आज वही होगी इसलिए ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुरूप जैसा ईश्वर चाहता है वैसे ही योगी चाहता है दूसरी बात यदि वो आत्मा के तुल्य न चाहे कल्पना करें थोड़ी सी थोड़ी सी देर से ऐसा कोई करे तो तो ऐसी स्थिति में वह ईश्वर के आनंद को प्राप्त नहीं कर पाता ध्यान से देखो जो व्यक्ति अपने तुल्य दूसरे के सुख दुख को हानि लाभ को नहीं समझता वैसा व्यवहार नहीं करता वह ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता जो व्यक्ति आत्मवत अन्य प्राणियों के साथ वर्ताव नहीं करता वह समस्त दुखों से नहीं छूट सकता ध्यान देंगे आप ये स्वभाव विशेष रूप से ऐसा स्वभाव जिसका वर्णन ये ईश्वर उपासना से आता है व्यक्ति अब क्या समझ में आया जो व्यक्ति जीवात्मा जिसके नकट रहता जिसके गुणों को ग्रहण करता उसका स्वभाव उसी जैसा होता है जो व्यक्ति कॉट नजरा लेता रहता है पड़ा रहता है वो तमोगुण के साथ अधिक रहता है तो कैसा बन जाता है तमोगुण जैसा बन जाता है